कांदा पुत्र कुघोड़ तू रोआ के सैन जाया है कुबैद जवानी न तमन तमन मन मंगिया इस आओ का मत लहाया है कुबैद जवानी मेरा सीना बिन सीन पर नई चुम दिया दिमाग हूँ सीने विच ॾिठा ज़ूम बपुल चुपकाए के भेण बिराए ॾिठा सभे हली बचे دائے بین भाए اکبر دی جوانی